असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना जय जयकार हो दादा દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો ઓ દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દા ભગવાન હો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના જયકારો ઓ દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ના સિમ જય જયકારો દા ભગવાન ના સિમ દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ આ નિમિ નિમેશભાઈ આ મળ્યા છે આપણને મળ્યા હતા ને શું આપણે એમનો મારા સાહેબનો હા બસ આ જ મયુર ભગવાને આજ્ઞા આ આપી છે શું કહ્યું મયુર ભગવાને આજ્ઞા આ આપી છે જો આપણે સંયમધમ સ્વીકાર્યો છે તો આપણે સંયમધમ કેવો હોય કે પરમ વિનયથી હોય આખો પરમ વિનય પ્રભુ વિતરાક પ્રભુ માટે હોય છે હં હવે આ કાળમાં પંચમ કાળમાં એ ચતુર્થ કાળ રહ્યો નહીં છતાં એ લિંક રહી વીર શાસનમાં દાદા ભગવાન મારફતે અને એ આખો એમનો પ્રકાશ ખુલ્લો થયો હમ તે આજે એ આપણા પ્રત્યક્ષ માહિર ભગવાન છે સમજાયું પરંતુ એ દાદા ભગવાનની એમના પ્રાપ્ત ભવમાં અત્યારના એમ પટેલ રૂપી એ ચૌદસ પૂનમ સ્વરૂપે રહ્યા હતા એના લીધે બધાને પૂર્ણિમાનો એટલે કેવર્ગનો લાભ મળ્યો કેવર્ગનો કેવર જાણકારી અને કેવર દેખવાવાળું સમજાયું ને બધું જ આ લાભ મળ્યો તે આ મળ્યા હતા આપણને सिद्ध शिव मुझे चाहता अभी कहाँ भी आ रहे पंजाब से आए अपना रायचंद भाई जानते हैं अच्छा हाँ वो अपने अहमदाबाद में थी यहाँ यहाँ थी मालूम हाँ सर सत्ताईस मार्च को बड़ा अच्छा है ज्ञान विधि मैंने ली है मतलब जो देने वाले नहीं हैं उनसे ही हमें ये स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है आत्मज्ञान का और वो केवल का बीज बीजारोपण नहीं होता वहाँ तक वो परिणाम स्वरूप में आता नहीं अभी आपका ये संयम पर्याय शिव मुनि आचार्य साहेब पूरे समझते हैं लेकिन वो तो आचार्य है इतने बड़े संघ के हैं इतने बड़े साधु संप्रदाय का कितना बड़ा है हुँ? इस ढंग से लेकिन अंदर से वो अलग ढंग से रहते हैं साहब जाके मिलते हैं सबको आप तो पुत्र भी जाते रहते हैं समझे ना आपको मालूम होगा तो, चलो बस बैठिए हाँ आपका अलग स्थान ले लीजिए हाँ थोड़ा आगे रखना थोड़ा તમારા લોકોનો સ્પર્શ ના થાય થોડું આગળ રખાવજો આગળ રખાવો થોડું બસ એક બસ બસ બસ બસ सरदार जी वाहेगुरु कहाँ से आए आप जोधपुर से रोपड़ रोपड़ हाँ रोपर रोपर रोपर हम्म। पंजाब की भूमि वो वितराकों की भूमि है जिनके हाथ में कोई हथियार न था समझे रायचंद जी अच्छा है तो आपको पंजाब का संदेशा ले जाओ आप आपकी गुरुमुखी में काम करेंगे रायचंद रायचंद के साथ नहीं करेंगे कोई मारने वाला नहीं कोई हैरान नहीं करेगा आपको उसकी आपको गारंटी देते जाओ जाओ जाओ जाओ हम्म? अब तो बुद्धों को भी ले जाओ इसको लेकिन उसको वो बना रहा पगड़ी बगड़ी बना दे खुल्लर साहब आए पंचकूला से खुल्लर कहाँ है और ये सरदार जी अरे क्या खुल्लर साहब के वहाँ वहीं आते जाते रहते थे कहाँ है खुल्लर हाँ अरे आगे आ गए आपकी गुरु जी सच्ची है? विजन में विजन में विजन में है हुँ? हम्म? और जो विजन में है वही व्यवहार में आता है अन्यथा व्यवहार में नहीं आएगा हमारे जीवन में प्राप्त जीवन में अभी जो जीव रहे हैं वहां अगर हमारी शरीर में ना गई <laughs> आपको आपको पंजाब की है <laughs> नहीं भी वो तो बिहार की है <laughs> बिहार की आप बिहार की ना <laughs> राजस्थान के में जन्म हुआ है अरे खुल्लर जी बड़ा आनंद हो गया बड़ा आनंद हुआ अभी ये के पी गुप्ता साहब की पोती के पी गुप्ता जी की पोती, पोती कहाँ है भजन आप यहाँ आ जाओ उनकी इच्छा है कि भजन प्रार्थना बोलना चाहती है हम्म? एसपी शर्मा डॉक्टर अलवर एक भजन प्रस्तुत करना चाहती है हा? तो आ जा शर्मा साहब भी करना चाहते हैं कहाँ गए शर्मा जी पीछे आ जाना आप उनका पहला होने दीजिए पीछे आप आ जाइए बैठ जाइए नीचे वहाँ हाँ, हाँ बैठ जाए उसके ऊपर बैठ उसके ऊपर बैठ हाँ ऐसा बीच में बीच में बैठ जा बच्चे यहाँ बीच में बैठ आजा आ जा बरोबर हम्म। चलो चलो अभी आंखों बंद करके मजा से बोल हाँ जोर से तुम्ही हो माता तुम्ही तुम्ही बंधु सखा तुम्हें हो जो खिल रहे हैं वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं जो खिल सदाई रखना তুমি ও বন্ধু সখা তুমি ও তুমি হো মাতা পিতা তুমি হো তুমি হো বন্ধু সখা তুমি হো তুমি হো মাতা পিতা তুমি হো তুমি सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जय सचिदानंद जय सचिदानंद आ जाओ आजा जो दादाजी आशीर्वाद देते हैं स्कूल में क्या पढ़ती है कहाँ हाँ कौन सा ग्रेड सेवंथ सेवंथ सरी बहन सेवंथ में है बच्ची आपके स्कूल में वो सरयू बहन की स्कूल मालूम है सरयू बहन है पहचानती है नहीं वो मुंबई की स्कूल वाली है हाँ बोलो चलो जाओ जाओ कहीं जाओ अच्छे शर्मा जी आइए शर्मा जी अब यहाँ खड़ा है कि बोलिए तो बोलने का खड़ी पड़ आजिए सबके सामने आइए मेरा आशीर्वाद है दादाजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम सभी आदरणीय आपके पुत्रों की चरण साष्टक परिपद और सभी बड़ी महात्मा सभी के चरणों में मेरा जय सचिदान और इस सभी महात्माओं को मेरा जय सचिदान है तो जैसे हम सब जानते हैं दादाजी हिंदुओं के ही राम कृष्ण हैं और मुसलमानों की अल्लाह हैं और ईसाइयों की यीशु मसीह है और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने वो लाइन दादाजी के चरण में समर्पित करा आप सब साथ देंगे हकूर हमारे दादा भगवान हम हे दादा भगवान के गाइए हकूर हमारे दादा भगवान हम हे दादा भगवान कि जब कुछ बातें याद आए तो दो आंसू दादा को चढ़ा देना आज मैं ट्रेन में आ रहा था तो चार बजे ये भाव आए सिर्फ दो आंसू नहीं है ठक ठक ठक ठक आंसू आंखों से गिर रहे थे और मैं ही गा रहा था ठाकुर हमारे दादा भगवान हमारे दादा भगवान कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो चुके दादा भगवान के कोई भला कोई बुरा कहे हम हो चुके दादा हमारे दादा भगवान हम है दादा भगवान के ठाकुर हमारे दादा भगवान हम दादा भगवान सेवा परम धर्म हम हो चुके तनु दादा के लक्ष्य हमारे महाविद हम हो चुके सिमंदर भगवान का लक्ष्य हमारे महाविद हम हो चुके सिमंदर भगवान ठाकुर हमारे दादा भगवान हम है दादा भगवान के ठाकुर हमारे दादा भगवान हम हो चुके दादा भगवान कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम पुष्पाबेन किसने भेजा है आपने पदमचंद जी अपने बेंगलोर वाले अच्छा पुष्पा जी हम्म। उन्होंने प्रगट अनुभव में से कोई ज्ञान सूत्र पूछे हैं लेकिन उस पर उसके ऊपर से उन्हें पढ़ा तो उसे कुछ प्रश्न हम्म? उपस्थित हो गए वो प्रश्न पूछे हैं हम्म? वो तीन चार उन्नीस वो पुस्तक का नंबर है श्रेणी का नंबर है हुँ? हम्म? तीन में से चार में से तेईस में से है तेईसवा जो अनुभव सूत्र की पुस्तिका है उसमें से सब पूछे हैं पहला क्वेश्चन है तीसरा सूत्र पर से नहीं समझ गए को कोटि कोटि नमस्कार अच्छा जो लेन देन के अधीन ना हो बोलो के अधीन ना हो उसे ही भाव कहते हैं उसे, उसे ही भाव कहते हैं भाव तटस्थ रूप से होता है भाव तटस्थ रूप से होता है उसमें उसमें द्रव्य सम्मिलित नहीं होता द्रव्य सम्मिलित नहीं होता उसमें उसमें द्रव्य द्रव्य सम्मिलित नहीं होता सम्मिलित नहीं होता तो उसमें क्या क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है कि नहीं सम्मिलित है कि नहीं ऐसा पुष्पाबेन एक माइक वहां दो एक आपका यहाँ से माइक ले लो एक माइक दो हाँ बोलो आप वहां से बोलो जहाँ बैठे जय सच्चिदानंद हाँ, जय सच्चिदानंद बोलो जोर से लेन देन के लेन देन का हिसाब वो हाँ, वो बरोबर है वो लेन देन के हिसाब से हाँ, आप प्रश्न करते हैं और सूत्र में ऐसा है हाँ। कि उनमें द्रव्य भाव में द्रव्य सम्मिलित नहीं होता ऐसा लेकिन ये सूत्र अपेक्षा से है महात्माओं की अपेक्षा से जिन महात्माओं ने आत्मज्ञान पाया है स्वरूप ज्ञान पाया है वेद ज्ञान पाया है उनके लिए है ये खाली सूत्र अनुभव सूत्र है ना तो महात्माओं को जो आज्ञादम से अपना जीवन जी जी रहे हैं उसमें ऐसा आहिस्ते आहिस्ते अनुभव होता जाता है कि जो पुष्पाबेन है वो भाव मिश्रित द्रव्य है क्या बताया भाव मिश्रित द्रव्य और शुद्धात्मा है वो शुद्ध स्वरूप से भाव स्वरूप है शुद्ध स्वरूप से भाव स्वरूप है भाव स्वरूप है मैना आत्मा स्वरूप समझे ना इसलिए शुद्ध आत्मा बताया अपने तो हम निर्णय निश्चय से केवल शुद्ध आत्मा है समझे तो निर्णय निश्चय से हम शुद्ध आत्मा है वो हमेरा स्वभाव भाव है क्या हमार, बताया हमारा स्वभाव भाव है तो स्वभाव बिना प्राप्त हुए स्वभाव भाव किसी को होता नहीं है लेकिन हम ये व्यवहार में है पुष्पा बहन है उसका पूरा व्यवहार पड़ा है उसमें हम किस ढंग से रहे कि अभी पुष्पाबेन की नज़र यहाँ से वो जो देखती रहती है सब कुछ सभी जगह वो पुष्पाबेन की नज़रिया है शुद्धात्मा की नहीं है लेकिन हम शुद्धात्मा है वो आपको स्वाद में आ गया अनुभव में आ गए आपकी जानकारी हुई आपकी समानता हो गई और वो समानता से रहते हैं लेकिन पुष्पाबेन का व्यवहार जो आगे का कारण स्वरूप में भाव मिश्रित द्रव्य हो गया था उससे पुष्पाबेन जन्म पाई अच्छा। और उसका व्यवहार तो निकलना ही है समझे न तो उसमें निश्चय तो निश्चय ही रहा लेकिन वो भाव निश्चय द्रव्य में जो हम भाव है ऐसा मानते थे गलत मान्यता थी वो उसमें निकल ऐसे परमाणु हो गए अच्छा समझ गए और वो परमाणु होने के लिए वो सारा उसका हिसाब हम खुद अब हमसे बंधे गए थे वो निकलने के लिए जन्म पाते ही है अच्छा। तो जन्म जो मिलता है द्रव्य मिलता है लेकिन शरीर में अंदर से और इंद्रियों से जी जाता है शरीर वो भाव मिश्रित द्रव्य वाला है भाव मिश्रित द्रव्य वाला भाव मिश्रित द्रव्य वाला महीना अंतकरण से मन से बुद्धि से क्या बताया मन से बुद्धि से और चित्त अहंकार अहंकार बोल अंतकरण बोलते हैं ना वो भाव मिश्रित द्रव्य है इसीलिए उसको द्रव्य कर्म बताया क्या द्रव्य कर्म हाँ और बाहर वाला शरीर का भाग को नो कर्म बताया नो कर्म वो तो बाहर सबके साथ बहनकर रहना ही पड़ेगा आपको लेकिन ये आज्ञा धर्म के अनुसार दो दृष्टि से आप सब में रहो और जहाँ न रह सके वहाँ प्रतिक्रमण करके सुधार कर लो खुद को समझे कि नहीं ख्याल है हाँ हाँ समझो हमें लगते हैं वो पेंसिल से लिखते हैं तो ऐसा और पीछे लगा कि नहीं गलत लिखा गया तो हम अगर रबर है तो निकाल देते हैं तो प्रतिकमण रबर सरखा काम करता है प्रतिकमण प्रतिक्रमण क्यों कि जो पुष्पाबेन भाव मिश्रित द्रव्य वाला है बाहर रोर कम से है उसमें एक ऐसी गलती हो गई पुष्पाबेन की नज़रिया से कि वो मैं हूँ वहाँ गलती हो गई वो भाव मिश्रित द्रव्य के कारण हुआ हाँ? वो तो सभी में होने वाला है उसको ही गल, गलतियाँ बोलते हैं अपने अंदर के जीवन की वो गलतियाँ हमें मालूम पड़ती जाती है वैसी वैसी वो गलती को हम प्रतिक्रमण वापस आ जाते हैं कि भाई पुष्पा की नज़रिया पुष्पा बहन की है वो मेरी नहीं है मैं तो शुद्धात्मा हूँ मैं शुद्धात्मा के नज़रिया से सब पुष्पा बहन का सभी का मन का विचार सब कुछ देख देख रहती हूँ और बाहर के शरीर से जो जिया जाता है उसमें उस बहन का जीवन है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ समझे कि नहीं रेलवे की पटरी दो ऐसी होती ना साथ में ऐसी हाँ। लेकिन हमारा भाव मिश्रित द्रव्य के कारण ये पटरी ऐसी नहीं रह सकती अच्छा। हमारे जीवन के दरमियान तो अच्छा। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते होती जाती है समझे न ऐसा होता है तो दोनों में से सम भाव होता समभाव से निकाल होता जाता है हाँ। वैसा इतनी एक सरखी होती जाती है पटरी समझ में आया समझ में और आखिर पटरी कंप्लीट हो गई तो केवल ज्ञान एक दो अवतार में समझे न तो यहाँ एक अपेक्षा से है समझिए आपका दूसरा चौथा सूत्र में से क्वेश्चन ऐसा आया हाँ। कि नियम के बाद ही संयम आता है बोलो क्या नियम के बाद ही संयम आता है किंतु कौन सा नियम ऐसा पूछते हैं कौन सा नियम तो कहते हैं कि निराग्रह रूप से समझा गया हाँ, निराग्रह रूप से हाँ, निराग्रह रूप से समझा गया अर्थात पुष्पाबेन के जीवन में व्यवहार में जो कुछ बना रहता है उसमें नियम महीना क्या कि हम पुष्पाबेन की किसी भी क्रिया को मन का विचार हो अंतकरण हो और बाह्य के सभी के साथ रहते हो सभी कोई भी क्रिया हो बाह्य क्रिया और अंतर क्रिया समझ में आए हाँ। वो सभी किसी क्रिया का हम करने वाला नहीं है वो तो हमने जो किया था उसमें से ये पुष्पा बहन जन्म पाई तो उसके अभिनय को खाली हो रहा है क्या मन से अंतरकरण से और बाहर से दूसरी जगह और लेकिन वो खाली रहा तो उसकी शक्ति तो होनी चाहिए ना शुद्धात्मा की शक्ति अंदर हाजिरी है खाली और कुछ नहीं है लेकिन हम ये भाव मिश्रित द्रव्य से शक्ति ऐसी खींच हमेरी आ गई तो शक्ति से अंदर भर गई पुद्गल में पुद्गल में भर गई शक्ति वो शक्ति भरी हुई बैटरी का सेल होता है उसमें पावर भरा हुआ निकलता ही जाता है वैसे निकलने के लिए वो जन्म पाया आपने और सारा जीवन से वो शक्ति निकलती जाती है लेकिन वो शक्ति निकल की अपने अपने खुद से नहीं निकलती कोई तो ऐसी महाशक्ति होगी कि सबकी शक्तियों को निकाल के ले वो सब उनसे उनसे हम हमारी शक्तियाँ खाली होती जाती है ऐसे होगी कि नहीं वो व्यवस्थित शक्ति तीसरी आज्ञा है व्यवस्थित शक्ति करता है उसका मतलब यही है कि जो हम व्यष्टि है क्या बताया जो हम व्यष्टि महीना व्यक्ति पुष्पा अच्छा। ऐसा सभी लोग हम सभी सभी सारा विश्व हुँ? हम्म? वो सभी को चलाने वाली शक्ति एक मुख्य समझे जो एक मुख्य शक्ति है और कठपुतली का नाटक चल रहा है रामायण चल रही है सब कुछ लेकिन पर्दे पर्दा रखा गया है उसके पीछे चलाने वाला है वो सभी कठपुतलियों को नचाता है उधर से तो सभी के उसका जो रस्सियाँ लगी हो ऐसे उसको दिशा कर्ज कराता है सबको आनंद भी आता है वो अलवर में खाली नहीं करते वो लोग नहीं रामायण अलवर में करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। हमने सुना है कि एक महीने तक करते हैं एक महीना चालू हो जाता है <laughs> उत्तर भारत में बहुत होती है ऐसी व्यवस्थित शक्ति से कटपुट लिख करके मेरा मन और वाचा और काया से हम ऐसे नचवाते जाते हैं और हम मानते हैं कि हे मैं हूँ नहीं अभी आज्ञा में आ गए व्यवस्थित शक्ति उसको नियम बोलते हैं क्या तो पुष्पाबेन नियम में आ गई तो अच्छा। आज्ञा के अनुसार हाँ। समझे हम्म? नियम कैसे आई कि मैं व्यवहार दृष्टि से पुष्पाबेन हूँ हम्म। दरअसल तो मैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा दृष्टि से हूँ तो अभी ये पुष्पाबेन कैसे चल चलेगी तो व्यवस्थित शक्ति के अनुसार वो चल जैसी चलाएगी वैसी पुष्पान जिएगी जो पुष्पाबेन को होता है पसंद वाला नापसंदगी का कुछ भी हो वो व्यवस्थित शक्ति का चलाया हुआ है हम उसमें बढ़ेंगे नहीं अभी अच्छा। जो आगे बढ़ गए थे द्रव्य में उसमें अभी यही हालत हुई है तो अभी तो हमें छुटकारा पाया है हुँ? तो छुटकारा जीवन जीना है है ही ना हाँ। फिर भी शरीर तो है जल तो है शरीर की लेकिन वो शरीर जैसा जीता है तो ये कैसी है लाइव जेल है ला, लाइव को क्या बोले हिंदी में जीवती जीती जीवन जीती जीती हुई जेल है जीती हुई वो, मनुष्यों की जेल जीती हुई नहीं होती उसमें जीने वाले अंदर डब्बे में पूरे ऐसा पूरा पूरे हाँ, जाते हैं कैद हो जाते हैं ऐसे शरीर में हम शुद्धात्मा है हमें स्वाद आया है अच्छा। फिर भी इसमें है तो उसका सब निकाल करना है सब कि दुकान दुकान हो गई हाँ। क्या हाँ तो उसमें ये नियम आया आज्ञा वही धर्म क्या बताया आज्ञा वही धर्म तो हमें पांच आज्ञा मिली माहिर भगवान के पांच महाव्रत है अब समझे ना और आज्ञा का पालन में जहाँ जहाँ हमारी मेरी गलतियाँ हमें थोड़ी थोड़ी कैसे भी समझ में आवे दिखाती जाती है इसी तभी हम प्रतिक्रमण करते रहे तो उसमें पांच महाव्रत भी आ गए संसार में होते हुए भी और सभी अणुव्रत आ गए तो नियम में आ गए बोलते हैं समझे क्यों कि व्रत महीना सभानता से रहना क्या बताया व्रत महीना सभानता से रहना मैं शुद्धात्मा हूँ तो शुद्धात्मा की स्वभाव से रहना वो क्योंकि हमने शुद्ध चित्त पाया है शुद्ध चित्त हाँ समझे ना तो व्रत शब्द उसके ऊपर से आया है हमारी हाँ, वृत्ति शुद्ध वृत्ति हो गई लेकिन शुद्ध वृत्ति के स्वरूप से हम जी नहीं पाते हुँ? हम्म? हाँ, हमेरा जो व्यवहार में अशुद्धि है जिसके कारण शरीर का जन्म पाया फिर भी ये पंचम काल में हमें चतुर्थ ज्ञान का मायर भगवान के प्रत्यक्षता वाला ऐसा ज्ञान मिला क्यों कि इससे ज्ञानी पुरुष मिले और उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुई हम्म? कृपा शब्द शरीर की क्रिया को नहीं लागू होता क्या बताया कृपा शब्द शरीर की क्रिया को नहीं लागू होता नहीं कृपा शब्द दिल में सम्यकता जितनी जितनी प्रस्तापित होती जाती है उससे उसका बाहर ऐसा होता ही है फ्लो अच्छा हुँ? हम्म? और वो उसकी शुरुआत सभी धर्मों में विश्व में भारत में सभी जगह दया शब्द से होती है सभी को शांति चाहिए सभी को शांति चाहे सभी इच्छा करते हैं कि हमें दूसरे लोग क्षमा करें हमारी हाँ, क्या गलती नहीं है फिर भी ऐसा क्यों करते भाई क्षमा करो ने बोला नहीं जाता किसी को लेकिन मांगते हैं और सभी को ठीक ढंग से रहना है कोई पक्ष में नहीं पड़ना ऐसे सभी की भावनाओं रहती है लेकिन रह नहीं पाते रह नहीं पाते तो दया से शुरू होती है और शुद्धात्मा पर पाए उसके साथ तो जितना जितनी सम्यकता हमारे व्यवहार में आती है वो सारा कृपा का सभी कृपा शब्द तो सभी को लागू होता है लेकिन दरअसल दया पूरे पूरी निकल के बाहर निकल जाती है तब कृपा चालू होती है नहीं तो कृपा नहीं हो सकती अच्छा। उसको बोलते हैं अनुभव अनुभव ये आज्ञा के अनुसार हमारे शरीर के सारे व्यवहारों में जैसी व्यवहार की शुद्धि हमें अनुभव में स्वाद में आती जाती जाए शुद्धात्मा दृष्टि से वैसा वैसा अनुभव पद इकट्ठा आहिस्ते आहिस्ते होता है वो क्रम क्रम से होता है औस औस औस करके और जमा होता है कभी ऐसी स्थल आती है कभी कभी तब वो स्थिर हो जाता है पीछे रहता ही है और व्यवहार तो साथ साथ में रहता ही है और व्यवहार रहता है इसीलिए अनुभव एक गुणस्थान का समय की अवधि से चलता रहता है हमेशा कंटिन्यूस चलता है लेकिन गुणतान पूरा हो तो खंडित होता है पीछे चालू होता है बीच में वो खंड खंड का भंग भाग भी आ जाएगा बड़ा होगा तो आस्ते आस्ते छोटा होता जाएगा समझ में आता है कुछ हाँ, बहुत गंभीर बात करते हैं आपको अनुभव के लिए अपना हाँ। हाँ, प्रश्न करती है तो समझ में आया आया दादाजी मजा आती है बहुत मजा आती है हाँ मजा को आनंद बोलते हैं आनंद <laughs> <laughs> आगे जावे तो तेईस में से उनतीसवा सूत्र है उससे लिया है आपने अब नियम तो समझ गई ने हाँ बिना नियम संयम नहीं होता जो व्यवहार से संयम ग्रहण करते हैं हम घर के व्यवहार से मुक्त होके हम साधु धर्म साध्वी धर्म स्वीकार करते हैं वो व्यवहार से है लेकिन सम्य संयम दरअसल भगवान की भाषा में भगवान की भाषा में वो शुद्धात्मा के साथ वाला जो व्यवहार का जीवन अच्छा वो तो घरेलू लोगों भी होता है इसीलिए भगवान ने बताया घरेलू लोगों में अगर ये पंचम काल आने वाले पंचम काल में ये लोग ये भगवान की आज्ञा नहीं समझ पाएंगे वीर प्रभु की और संयम और व्यवहार दोनों चलता रहेगा इसीलिए वो संघ जो स्थापना की संयम धर्मियों से वो सारे संयम धर्मियों के लिए थी प्रमुखताएं और गौणता वो सभी संसारियों के लिए थी अच्छा। घर वालों के लिए समझे तो ऐसा था तो तो चलता रहा क्यों कि व्यवहार कभी भी अटकता नहीं है क्या बताया व्यवहार कभी अटकता नहीं है हाँ, चलता तो मेरे जन्म के पहले भी व्यवहार था और जन्म पाया वो व्यवहार ही है हाँ। और आगे जन्म पाएंगे वो भी व्यवहार हाँ, है लेकिन व्यवहार किसको बोलते हैं हाँ। कि जो मुक्त हो गया उसको सही व्यवहार भगवान की भाषा में बोलते हैं अर्थात मैं पुष्पाबेन हूँ तो मुझे ये आज्ञा और स्वरूप ज्ञान मिला तो स्वरूप ज्ञान मिला उसके पश्चात पुष्पाबेन के ढंग से मुझे मेरा जीवन जाना है उसमें पांच आज्ञा में पुष्पाबेन को रखी गई समझे न हाँ उसमें मुक्त जीवन चला जाता है पूरा तो वहाँ सही व्यवहार में आपकी प्रवेश हुई माहिर भगवान की भाषा में अच्छा। आपने संयम नहीं लिया घर व्यवहार है सबको फिर भी और संयमधारी है संयमधारी ने लिया उन्हों तो बड़ा और भी लाभ मिलेगा तो जल्दी और दूसरे को काम में भी आएंगे बहुत लोगों को काम में आएंगे हुँ? हम्म? शरीर को हमें काम में नहीं लेना है शरीर को काम में आने देना है सभी के लिए काम में आने हम संयम लिया है हमारे मोक्ष मोक्ष के लिए आखिर हम मोक्ष हमें मोक्ष ही चाहिए बस फिर भी ये साधु का जीवन जाता है इस ढंग से व्यवहार के साथ जाता है आपका संयम व्यवहार हो गया और बाकी का वो घर वालों का व्यवहार हुआ व्यवहार तो एक ही है भगवान की भाषा का व्यवहार और उसी को वितराग भगवान की भाषा का वो वितराग वितराग अंश प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ वाला व्यवहार बताया क्योंकि पुरुष पद प्राप्त हुआ शुद्धात्मा पद समझे न तो नियम संयम समझ में आया वो पांच आज्ञा वही धर्म है वो संयम है पांच आज्ञा वही तप है वो संयम है पराक्रम है और मैं पुष्पा बहन ये पांच आज्ञा के अधीन जो मेरा जीवन जा रहा है अभी ये मेरी यही अधीनता है अधीनता में ना आधार कुछ आधार तो चाहिए ना आधार हाँ। हमें सीधा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया हम्म। वो जिन लोगों को व्यवहार में निकलते निकलते निकलते कहीं आगे जाते हैं तब ज्ञान मिलता है तो अभी मिला ये शक्य शक्य नहीं है ये अपवाद ही होता है ये सब हुँ? और आज ये अपवाद मागे खुला हुआ अक्रम बोलते हैं तो अक्रम कोई नया कुछ है ही नहीं लेकिन वो अपवाद मार्ग है खाली अपवाद से हुआ है क्यों कि एक काल में वीर शासन भी है और वीर शासन में हमें वीर प्रभु की आज्ञा हमें सही ढंग से समझ में आवे तो आज के पंचम काल के समय के अनुसार की पांच आज्ञा हमें मिली कि व्यवहार दृष्टि से हम नामजारी है निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है और व्यवहार दृष्टि से जो नामधारी है वो व्यवस्थित शक्ति से संचालित है और उनका मन व्यवस्थित शक्ति से प्रेरित होता है और मन से प्रेरित हमारी प्रकृति प्रेरित होती है तो प्रेरित करने वाले हम हैं ही नहीं प्रेरणा हमसे कुछ होती ही नहीं है वो वहाँ से शक्ति से आती है बिना शक्ति किसी भी क्रिया का संचार नहीं हो सकता वो तो सारा विश्व में सब जानते हैं शक्ति हुँ? हम्म, तो शक्ति वो मूल शुद्धात्मा की शक्ति है इसीलिए व्यवहार में आई समझे न तो शुद्धात्मा प्रमुख है और शक्ति एक गौण है लेकिन वो असल शक्ति खुली हुए केवल ज्ञान केवल प्रकाश से वहाँ तक ये शक्ति में आज्ञा धर्म से जीवन जाना वही है मेरा निश्चय क्या बताया निश्चय पुष्पा बहन को कैसी भी परिस्थितियाँ आवे ऐसा लगे अरे के जीना खराब है क्या करे कैसा जीवे ऐसा कैसा भी आवे उनको जो बुझ हो जाए लेकिन मेरा निश्चय नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा डोलक होगा ऐसा होगा उलट पुलट हो जाएगा फिर भी हम वापस नहीं नहीं बोलना पुष्पा को आपको खुद को पुष्पा बहन को बोलना है पुष्पा बहन नहीं तो आ जा अग्नि में आ जा ऐसा अपने खुद बोलना है खुद डांटो दूसरों हमें डांटे उसकी जगह खुद डांटो अच्छा रहेगा हुँ? हम्म? अच्छा रहेगा ऐसे हिसाब चाहिए ना हाँ लेकिन बच्चे लोग को स्कूल में मास्टर डांटने वाला जरूर लगते हैं हाँ? ये पहले मीताबेन जैसे की लगती है आगे बैठिए ये बच्ची ये कौन है ना बड़ी है नहीं अच्छा तेरे उसका अब मोहन भाई की पीछा में कभी कभी हो जाता है हाँ? पुष्पा में आगे जावे हाँ तो एक पद पसी लीए हलो बीजो आयुष्य जिसको जो समझने की इच्छा हो आज्ञा धर्म में और किसी किसी ने कोई ने आज्ञा भी ज्ञान भी नहीं होगा आत्मज्ञान फिर भी हम जैन धर्म के अनुसार हमारा जीवन बिताते रहते हैं उनको भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं कोई भी सरदार जी आप भी पूछ सकते हैं हम्म? तो ये कमला रानी बहन कौन है कमला बहन कमला रानी हाँ। हाँ? पीछे पीछे खड़े हाँ, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है वहीं आप बैठो बैठिए आइए ने नीचे बैठ पाते हैं नहीं तो वहाँ ही खड़े रहिए जैसे हरकत नहीं ना बैठने में अच्छा तो आपका पीछे लेते हैं हाँ लेते हैं यहाँ ये दो तीन बाकी है ले लेंगे हाँ हम्म। ले लिए नहीं हाँ, अच्छा ये ट्वेंटी नाइन वाला हो गया नहीं ट्वेंटी फोर बार नियम के बाद संयम आता है अच्छा उन 29 का सूत्र क्या है निज निज शिष्य दृष्टि के वेदन के बिना निज शिष्य दृष्टि के वेदन बिना निज और शिष्य दृष्टि एक शब्द है शिष्य लाइन दृष्टि ऐसा निज निज शिष्य दृष्टि के वेदन के बिना सामने वाला निर्दोष देखाता ही नहीं निज મહિના वो पुष्पा बहन अब कमला बहन जो वो हम नामदारी उसको निज वो हर्त में रखा है तो हम व्यवहार दृष्टि से व्यव आज्ञा धर्म में ऐसे आ गए हैं जो मानते थे कि वो व्यवहार वही निश्चय है और इसीलिए हम मानते थे कि जो मैं नाम है और नामदारी है वही मैं हूँ उससे तो हमने छुटकारा पाया मुक्ति पाई इसीलिए वो नाम वाला नामधारी मुक्त हुआ लेकिन मुक्त हिसाब से जी नहीं पाएगा इसमें आज ये आज्ञाधर्म दो दृष्टि सही नहीं रहती है किसके कारण तो के व्यवहार में हमें ये व्यवहार दृष्टि की नज़रिया में जितना गुरु भाव आ गया था मईपन आ गया था क्या निकलता हुआ मईपन कौन सा क्यों कि कोई सी भी मईपन होगा वो भरता हुआ होगा या निकलता हुआ वो बिना ममता वाला नहीं होगा मेरापन वाला नहीं होगा बिना समझे जितना मईपन है वो हमेशा मेरापन वाला साथ में ही होता है समझे लेकिन जो गलत मान्यता का भ्रांति का मईपन है वो ममता वाला होता है हुँ? हम्म? उसी को ही माया बोलते हैं ममता समझे ना वो नाम नाम की माया बोलते हैं ना तो पीछे मुक्ति होने के पश्चात फिर भी हमारी नज़रिया तो व्यवहार की चलती ही रहती है वो नज़रिया में वो आगे जो भरे था निश्चय मूड व्यवहार में उससे वो नज़रिया काम कर रही है उसमें से हम जैसे जैसे वो व्यवहार दृष्टि की नज़रिया से ही समझते समझते जीते जाते जाए ऐसे ऐसे वो नजरिया में से भार कमती होता जाएगा भार महीना गुरु भाव गुरु भाव उसको भार बोझा वाला बोलते हैं तो नज़रिया सही नहीं रख सकती है मेरी तो कमती होता है इसीलिए लेकिन हमें उसका आधार लेना अच्छा रहेगा नामदारी को के अभी आपका कमला बहन और पुष्पा बहन नाम है ना आपके कोई बात नहीं छोड़ वांधो નથી અવાજ મોટો છે ને કમલાબેન और पुष्पा बहन आपको नाम को आपको बताते हैं पुष्पा बहन तो वो नज़रिया पुष्पा बहन की जो है उसमें शिष्य दृष्टि से उसे सारा वेदन अर्थात आपका पतिदेव से आपको ठपका मिले और आपको वेदन होने ही वाला है वेदना वेदना तो होगी अच्छा पर नहीं लगेगा उसमें वो सब वेदना होगी उसमें हमें यही वेदन होना है तभी ये उसका हमें केड़ो निशु कहिए के, केलो कल्टिव उसकी आदत पाड़नी है प्रैक्टिस करनी है उसकी कि भाई ये तो मेरे गुरुदेव से मुझे ठोकाया मुझे उसमें क्या बिना हो बुरा लगना है वो तो मेरे अच्छे हैं भले हैं ऐसी हमारी दृष्टि रखनी है शिष्य दृष्टि पतिदेव के साथ रहते रहते भी और बच्चे के साथ रहते हैं भी छोटा बच्चा क्यों हो कैसा भी हो उसके साथ उनका व्यवहार आपको पसंद आए ना पसंद आए देखना नहीं है लेकिन आप उनके भी शिष्य है क्या एक जन्म पाया बच्चा है उनके भी शिष्य है और उससे सब बड़े गए छोटे हो गए सब कुछ हो गए सभी उनके हम शिष्य है सभी मेरे गुरु है समझे हम लगता है कि बिल्ली बीच में आती है तो हम अपशुकन मानते हैं तो उसको गुरु अगर के देखो तो आपको शुक्र नहीं होगा समझ में आया किसी भी प्रकार का लेकिन ये भारत में जन्म जन्मांतर से जीते जीते जो आए हैं और कहीं कहीं ऐसी अंधश्रद्धा वाला जीवन हमारे अंदर जम गया है उसमें से निकलते निकलते हमारी दृष्टि में शिष्यवृत्ति आती है और जितनी शिष्य वृत्ति आती है इतनी वृत्ति से हमें हमारी भूल दिखाई पड़ेगी और भूल दिखाई पड़ेगी इतनी हमें निर्दोषिता आएगी और हमारी व्यवहार दृष्टि की पुष्पा बहन की निर्दोषिता जितनी आई इतनी इतनी इतने अवसरों में और दूसरों में दोष नहीं दिखेगी दूसरा देश वाला व्यवहार होगा फिर भी उनको नहीं दिखाई पड़ेगा व्यवहार की दृष्टि तो दिखेगी वो खुद पर खुद नहीं देखेंगे मेरी समझ में आया बहुत गहरी बात बताते हैं आज्ञा धर्म की बहुत गहरी बात हम्म, जैसे महावीर भगवान रहते थे इस ढंग से बताते हैं हम जो दादा भगवान रहे और इतना बड़ा ज्ञान खुला हुआ इस ढंग से समझ में आया सबको हम्म, तो ऐसी बात है तो दादा भगवान ने खुद के लिए बताया कि हमने हमेरी निर्दोष व्यवहार नजरिया से सारा विश्व को निर्दोष देखा ऐसे दादा भगवान का विधान है यही विधान माहिर भगवान का हुँ? हम्म? लेकिन उनका केवल ज्ञान के पश्चात बार आया दक्षिणा के स्वरूप में जब वो तप तब काल में थे नब नहीं आया वो तो तब काल ही होता है तब काल तो उसमें मुंह बंद हो जाता है हुँ? हम्म? बस खुद को देखता ही रहते देखना ही रहता है और कुछ नहीं तो आज्ञाए धर्म वो ऐसा ही है उसमें क्या दिक्कत है पुष्पाबेन बोलो ना घर में जीने के लिए आप बेंगलोर से है ना हाँ पदम सिंह जी तो पदम सिंह जी आपको हैरान करते हैं वो तो बहुत अच्छे है हाँ समझ में आया कि नहीं ત્યાં બેંગ્લોરમાં બહુ પૂછતી હતી આપણે થોડા દિવસ હતા ને બે ત્રણ દિવસ તમે હતા નહીં કે આ દીપકભાઈ હતા કોઈ હા. समझ में आया आपको हमारे आज्ञा धर्म से ऐसा होता जाता है जैसे असंभव से निपटारा होता जाता है और मैं किसी पुष्पावन की शरीर की व्यवहार की मैं करता मैं मैं मुझसे किया नहीं जाता वो व्यवस्थित शक्ति करवाने वाली है उससे होता है हा? तो मैं शुद्धात्मा ठीक ढंग से रहता है और पुष्पाबन की व्यवहार दृष्टि भी ठीक ढंग से इतनी तो रहती है आहिस्ते आहिस्ते होता जाता है हु? हम्म? और खुद के दोष दिखाई गए पड़ेंगे नहीं तो तो हमें से अनादि से वो आदत तो हो गई है ना उससे बा, बाहर ही दोष दिखेंगे खुद का तो बिल्कुल ठीक रखेंगे हुँ? हम्म? पीछे आगे तैतीसवा सूत्र में से पूछा है भावा भाव का मतलब है असर में असर रूप में अस्तित्व ऐसा कुछ हो सूत्र है वो समझना है ओ खरी विचार कर पदम जी बहुत मैंने पढ़ के बहुत सोचा लगता है उत्तम जी अच्छे सोच वाले हैं भावाभाव का मतलब है वह समझने योग्य है शरीर में ना हाँ? भावाभाव का मतलब है असर में असर रूप में अस्तित्व उसको ही द्रव्यकर्म बोलते हैं क्या बताया उसी को ही द्रव्यकर्म बोलते हैं द्रव्यकर्म वो असर वाला है क्या बताया और उसमें हमें असर लग जाती है <laughs> वो असर हमें लगती है हाँ। हम तो असंग है हमें क्यों लगे वो असर फिर भी जितना हिसाब है वो तो लगेगी किसी को नहीं माहिर भगवान को ही नहीं छोड़ा इसीलिए साढ़ा बारह वर्ष तब कल्याणक हुआ तो हमेरा सारा जीवन तब कल्याणक वाला है लेकिन घर घर में घरेलू जीवन जीते जीते पदम जी कहाँ गए पक्का है आप पक्का है पक्का है <laughs> दिनेश वगैरह कहाँ दिनेश और आपका हाँ राकेश राकेश अरे ताराचंद ठीक है कि नहीं बहन आया है कि नहीं गुरुजी गुरु आपके गुरुजी वो बोलते आप तो मेरे गुरुजी है बोलते <laughs> वो समझे जा हाँ? अच्छा अच्छा है भावभाव का मतलब है असर में असर रूप में अस्तित्व हमेरा अस्तित्व शुद्धात्मा का हो गया और पुष्पा का अस्तित्व था और वही मेरा अस्तित्व मानते थे वो निकल गई गलत मान्यता तो सही हम बैठ गए अपना स्वरूप में समझ में आ गया सही ढंग से समझे तो अभी खाली असर वगैरह पुष्पा कर रहा तो आगे मैं ही पुष्पा बहन हूँ वो असर में खुद असर रूप से जीते थे हम अभी समझ में आया वो उसका अस्तित्व बोलते हैं इसलिए विनाशी अस्तित्व उसको बोलते हैं क्या हम शुद्धात्मा पद प्राप्त कर लिया उसके पश्चात हम अविनाशी स्वरूप में आ गए लेकिन विनाशी जीवन के साथ समझ में आया आगे आखिर का है 125वां दादाजी हर व्यवहार में किस प्रकार रहे कि जिससे विनाशी स्वभाव से हम निकलते चले और उसके विरोधी स्वभाव वाला कुछ अनुभव करें जो टिकाऊ है जैसा निश्चय शुद्धात्मा तो व्यवहार में इस ढंग से पुष्पा जी को रहना है कि पदम जी जो है वो पदम जी पदम जी नहीं है मैं हूँ अंदर से शुद्धात्मा की दृष्टि से समझ से समझ से समझे वो शरीर शरीर का व्यवहार तो शरीर का ही अलग होता है सभी का अलग होता है लेकिन हमेरी शुद्धात्मा की नज़रिया में दृष्टि में दिव्य चक्षु से हमें बाहर किसी को कोई भेद स्वरूप से नहीं दिखाई दे और हमेरा ही अस्तित्व के कारण वो बाहर है ऐसा मेरी समझ में आता जाए आहिस्ते आहिस्ते आएगा बच्चों में भी ऐसा आना पड़ेगा हाँ तो ही बच्चों के साथ सही व्यवहार होगा मजा आएगी मजा आएगी समझे कि नहीं सी समझ गई ना हाँ वो तो आसान है उसमें क्या तक दिक्कत है हाँ दिक्कत बोले तो दिक्कत हो जाएगी नहीं आसान है ऐसे नहीं निश्चय से मजबूत होना हम्म? जय सच्चिदानंद ये आपका हो गया अभी पद हम पद ले हिंदी का पावन पथ पर <laughs> कर, कर जरूर जरूर करें तो ये एक, पत, एक ले ले हम हम्म? एक कम कमला रानी जी बैठिए बैठिए हाँ? कमला महारानी जी क्यों नहीं लिखा <laughs> आपका घर की तो महारानी है ना <laughs> कहाँ से अलवर अलवर वाली है अच्छा हम्म। जय दादाजी दादाजी मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न है कि मुझे मेरे पूर्वजनों ने एक कार्य सौंपा है मुझे मेरे पूर्वजनों ने एक कार्य सौंपा है और वो अपनी संपत्ति को तो ये प्रश्न व्यवहार का है ना आपका व्यवहार का है ना कि ज्ञान का है अच्छा सर लेकिन यदि मैं उसके उनको कार्य वो पूरा व्यवहार ज्ञान तो है लेकिन व्यवहार के साथ वाला है ना तो रूम में आना मैं समझा देता तो तो। रूम में आना हम्म? कुछ मुझे सही ढंग से समझना पड़ेगा आपसे हाँ ऐसे रखो और आप अने जा दो पाछू थोड़ा समय आ जाना मैं अभी शाम को चला जाऊँगा शाम को एक घंटे के लिए आ जाऊँगा कौन सा समय है शाम का नहीं ऐसा नहीं है अपना रेगुलर टाइम क्या है तो बस पाँच के छः हम आ जाएंगे और उसके पहले रूम में आ जाना भोजन करके प्रसाद सब हो गए हो जावे तब तो तीन बजे तीन बजे आना हाँ तो अभी तो ये सब आपके जो आमंत्रण जिस जिनका है वो सभी को सभी विधि का भी करना है कर भाई आ जाएंगे अच्छा बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा ठीक है ठीक है हा? हम्म, ये किसका आया हम्म। ओम ह्रीम दादा भगवान सर्व सर्व सर्वज्ञ शरणम कच्छा में बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा दादाजी आप सब कुछ करने में समर्थ है मैं बार बार आपसे शांति मांगता हूँ और शांति भीतर शक्ति मांगता हूँ शक्ति भी तत्क्षण भी मिल जाती मिले जाती है लेकिन दादाजी आपके प्राप्त शक्ति द्वारा देर टिकती नहीं मुझे मिल जाती है उसका स्वाद आता है टिकती नहीं कृपा करके आप ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करने के हाँ? दोबारा शक्ति मिलने के दादा वापस जावे नहीं ऐसे ठीक है तो ये महेश अलवर वाले कौन है आप हैं ना तो काम करें चौबीस तारीख को ज्ञान विधि रखी थी उसकी जगह पच्चीस तारीख को हमें व्यवहार के कोई कारण हम कनु ये दादाजी के व्यवहार के कारण पच्चीस तारीख को रखा गया है पच्चीस को हम आ जाएंगे पच्चीस छवि है सत्यावी तक तो कीर्तन भक्ति है हाँ तो तीन दिन सब तो हमने बात कर दी है और जिनकी टिकट हो गई हो बाहर जाने की पच्चीस की वो चेंज करवा लेंगे रविवार की करवा लो मोक्षो मोक्ष मोक्ष जाना है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं वो पैसा लेंगे और कुछ लेंगे किसकी कोई बात नहीं फिर भी बोलते हैं हाँ आ जाओ तभी समझाएंगे फिर से पच्चीस तारीख को कारण मेरा जीवन थोड़ा शेष बचा है आप क्यों मानते हैं शेष बचा है अभी तो मुझे बहुत दिखाई देता है बहुत लंबा जीवन है आपका हाँ अलवर में किसी के सबका काम आपके आपसे होने वाला है बिना किए कुछ समझे ना ऐसे ही हाँ जाओ दादाजी हाँ जी पची ये शनिचर शनिचर दोपहर तक नाटा परिवार की तरफ से शिविर है दोपहर तक वेरी गुड शनिचर तीन बजे से कीर्तन भक्ति बरोबर वो जोधपुर के महावीर जी मधु जी के परिवार की तरफ से कीर्तन भक्ति है महावीर जी मधु जी आए वो खड़े हो जाऊं वहीं क्या नाम आपका शुभ नाम ये महावीर जी नुक्कड़ और मधु जी मधु जी मधु जी ये आ गए ठीक है बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा अरे वाह समझ गया मैं देखा और अभी शनिचर तक नाटा परिवार बराबर समझ गया समझ गया बैठो तो बैठो पूरा पच्चीस पच्चीसवा दिन है दोपहर को ज्ञान ज्ञान विधि होती है सुबह का तो सत्संग है ही और दोपहर को ज्ञान विधि होगी वहाँ ज्ञान कुंज में अच्छा और इस सबको बैठने चाहे तो क्या करें है? सब सब आ जाएंगे हाँ अच्छा ठीक है तो हाँ बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा दादाजी केवल ये भाई स्वागत के लिए आ रहे हैं हाँ, उनके नाटा परिवार के सभी पधारे पधारे